्यायन्तु ममाणि बाहप्राणश्चक्षुस्तो कर्मसरोफलिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् सामवेद या छांदोग्य परिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड के दसवें मंत्र में अंतिम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था तो मंत्र था तेन उभव पुरुत उसी अक्षर के द्वारा दोनों ही करते काम करते हैं यश एतद एवं वेदा यश न वेदा जो इस प्रकार गुण विशिष्ट ओंकार को जो जानता है या नहीं जानता है दोनों ही करते तो ओंकार से ही करते हैं को किंतु तो विद्या से अविद्या से कहा विद्या और अविद्या नाना है भिन्न भिन्न मार्ग में ले जाना जान करके करना अलग फल होता है अनजान में अलग हो जाता है वो विद्या करो करोति श्रद्धा उपनिषदा जो जो कार्य जान करके करता है विद्या और श्रद्धा से करता है और योग से करता है मैंने उपासना विशिष्ट होकर के करता है योग मैंने उपासना है उपासना सहित करता है वही अत्यंत शक्तिशाली होता है प्राणी खलु एत अक्षर से उपव्याख्यान बहुत ये सब इसी व्याख्या एत अक्षर से उपव्याख्यान कहा था मूल मंत्र उसी का व्याख्या है ऐसा बताया भाष्य चल रहा था इसका तो दृष्टम लोके बड़ी सवरयो पद्मरागादि मणि विक्रय वणिजो विज्ञान आधिक्यात फलाधिक्यम सिद्धांत ने कहा देखो जान करके करना और अनजान करने से फल भिन्न फल होता है देखा गया है एक बनिया व्यापारी है मणि के व्यापार करने वाला और एक सामान्य सबर है भील है जंगल का भील है दोनों के हाथ में मणि मिल जाए परमराज मणि मिल जाए तो वो व्यापारी उसकी कीमत समझता है तो उसको ज्यादा फल मिलेगा वही वस्तु है भील के पास में किंतु वो समझता नहीं जानता नहीं जानकारी नहीं है कम फल मिलेगा ये देखा है और इसलिए जो विद्या से श्रद्धा से उपासना से करेगा और वीरवत्तर होता है ये फल है कहा तस्मात यदेव विद्या करोती इसलिए जो मानी विद्या के साथ जान करके करता है विज्ञान है हाँ, ना युक्त कोई भी कार्य विज्ञान से युक्त होकर करता है कर्म कर्म करता है विज्ञान युक्त होकर जानकारी युक्त से कर्म करेगा और श्रद्धया श्रद्धा भी उसमें हो श्रद्धा श्रद्धालु होता हुआ कर्म करता हो तीसरा उपनिषदा माने योगेना कहा माने देवता विषय उपासना के सहित जो कर्म करता है वही वीरपत्तर होता तदेव वही कर्म तदेव कर्म वीरवत कर्म अविद्वत कर्म अधिक फलम अवती बीजवत्तर माने तरप प्रत्यय लगाया हुआ है अज्ञानी के कर्म से ज्यादा शक्तिशाली होता है विद्वत कर्म विधिवत तरत्व वचनात् विद्वानों के कर्म ने जो जानकार व्यक्ति उसके कर्म में विजयवत्तर कहा अतिशय शक्तिशाली होता है कर्म कहने से अविदुषो की कर्म बीजवत ये होती अज्ञानी का भी जो कर्म होगा फलशाली तो होगा शक्तिशाली तो रहेगा किंतु अत्यंत शक्तिशाली नहीं रहेगा एक कहना न तो अविदुषा ने अधिकार अज्ञानी को कर्म में अधिकार नहीं है ये बात नहीं आगे इसी में दसम मैंने खंड में आएगा प्रथम अध्याय में उषस्थि चाक्राणी की कथा आएगी वहां पर होता उद्गाता प्रस्तोता इत्यादि को प्रश्न करेंगे कोई यजमान के साथ राजा के यहाँ यज्ञ कर रहे थे अज्ञानी थे वो लोग पूरा देवताओं के विषय जानते नहीं थे लेकिन कर रहे थे क्या आगे सुनाई पड़ेगा एक न तो कर्म नहीं अधिकार अज्ञानी को कर्म में अधिकार नहीं है ये बात में है कर सकता है कर्म किंतु कितने शक्तिशाली फल नहीं होगा उसके द्वारा किया हुआ कर्म ये होगा क्यों औषस्ते कांडे आगे उशस्थि प्राण की कथा आने वाली है दसम खंड इसी प्रथम अध्याय के दसम खंड अनधिकार है ना नकार है पूर्व अधिकार नहीं है वो भी कर्म कर सकता है अज्ञानी औषस्ते कांडे अभिषाम अभी आर्थिक दर्शनार्थ करते हैं औषस्ते कांड उशस्ति चाक्राण की कहानी है उस दशम खंड में आएगा इसी में उसमें अभिदुषाम अभी जो राजा क्या यज्ञ कर रहे थे उशस्ति चाक्राण के अभाव में यज्ञ कर रहे थे होता आदि जितने भी थे वो अज्ञानी थे देवताओं के बारे में जानकारी नहीं थी उनको उदगाता को उदगान का देवता क्या है पता नहीं था ये ऐसे ऐसे थे अद्वैव अद्वैय कर्म का देवता कौन है पता नहीं था फिर भी कर्म चल रहा था देखा है कर्म अज्ञान भी कर्म कर सकता है रसतम आपकी समृद्धि गुणम अक्षरम इति एकम उपासना सारे मिलकर के अभी तक जो कुछ है एक ही उपासना ये रहेगी भिन्न भिन्न उपासना नहीं समझ ओम इत अक्षरम उदगीतम उपासिता यहां से जो आरंभ हुआ था तीन गुण का विधान किया रसतमत्व आपकी समृद्धि गुण वाला जो अक्षर है वो एक ही उपासना सब मिलकर एक उपासना भिन्न भिन्न नहीं समझना यहां एक ही है मध्य बीच में प्रयत्नांतर आदर्शना भिन्न कोई प्रयत्न नहीं आया उसी के विषय में चला वही अक्षर की उपासना चल रही थी उसी में आया अन्य चेष्टा नहीं किया बीच में इसलिए ये सभी मिलकर के एक ही उपासना है मैं उस अक्षर की उपासना इस तरह से रसतमत्व आपकी समृद्धि गुण लगा करके करना चाहिए यही सिद्ध होता है कहा अनेक विशेषण अनेकधा उपास्यवाद खलु यत एवं प्रकृत उदगीत अक्षर से उदगीताक्ष अक्षर से व्याख्यान भवती अनेक विशेषण लगाया रसतमत्व विशेषण आपति विशेषण और समृद्धि विशेषण इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषणों के द्वारा उपास्य किया है उपास्य होने से ओंकार और ये तस्य में प्रकृति उद्गित जो उद्गित था ओम इति ये अक्षर अक्षर था उपासित जो चला था उसी उद्गीत का ही उद्गीत नामक जो अक्षर है उसी का उपव्याख्यान उसी की उपव्याख्या है उसी की यहाँ व्याख्या की गई है अन्य नहीं ये समझना कहा ठीक है सर ठीक है मैं कहा अक्षर से तुत्या मही कृतत्व अक्षर जो ओंकार है उसकी स्तुति करके मही कृतत्वाद उसकी महिमा बढ़ाई गई इसलिए उपासना सिद्ध है जिसकी महिमा बढ़ाई जाती है उसको उपासना करनी होती है उपासना सिद्ध होने पर किम उत्तर ग्रंथ है ना आगे के मंत्र से क्या लेना ये प्रश्न आया तो उत्तर में तत्र इत्यादि कहा था तत्र अक्षर विज्ञान अवतः कर्म कर्तव्य स्थिति में आक्षेप अक्षर विज्ञान वाले के कर्म करना चाहिए जो कहा गया है किंतु उसके ऊपर आक्षेप करता है कुर्बानी दोनों तो कर्म करते हैं ज्ञान या अज्ञानी फल दोनों को समान ही होगा फिर अक्षर का उपासना वाले के कर्म करना क्यों कहा ये आक्षेप है उसका ये कहा ठीक है पूर्वस्मिन संदर्भे स्तुति बसात पूर्व में स्तुति की ओम इति संसती ओम इति उद्गायती इत्यादि प्रशंसा की उदगाता उदगान कर्म करने के पहले ओमकार का उच्चारण करता है होता संसन कर्म करने के पहले स्तुति करने के पहले ओमकार का उच्चारण करता है अध्वर्य अध्यर्य कर्म करने के पहले ओंकार का उच्चारण करता है इस तरह से ओंकार की प्रशंसा हो चुकी है पूर्व में पूर्वस्मिन संदर्भे स्तुति बसा पूर्व संदर्भ में ओंकार की स्तुति के होने से अक्षर विज्ञान कर्तव्य क्योंकि जिसके ऐसा है तो उसके उस अक्षर के विषय में ओंकार के विषय विज्ञान की जरूरत है तन निष्पाद्यम कर्म तद विज्ञान वो तो अनुष्ठेय स्थितम इसलिए उसके द्वारा जो ओंकार के द्वारा निष्पाद्य निष्पाद्य जो कर्म होगा वो कर्म तद विज्ञान होता अनुष्ठान ओंकार के विषय अक्षर के माने विज्ञान वाला जो होगा उसी के द्वारा अनुच्छेद होगा कर्म ये स्थित हुआ पूर्व पूर्व संदर्भ में तद आक्षेप तुम तो उत्तरम वाक्य में चलते उसी के आक्षेप के लिए आगे के वाक्य है वो तो बोलता है तेरह उभव कुरुता दोनों ओंकार से तो कर्म करते हैं ज्ञानी अज्ञानी यश ये तद वेद यश न वेद जो इसको जानता है ओंकार के विषय में जो नहीं जानता है दोनों ही तो है ऐसा कहता है ये बोलता है तेना कहा पूर्व पक्ष भाष्य पूर्वादि में शंका उठाई तेन अक्षर उभव दोनों ही व्यक्ति यश्च एतद अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद जिस प्रकार से अक्षर के विषय में कहा जो एक विद्वान है जानता है उसके बारे में हाँ, रसतमत्व आदि गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना करना जानता है और यश्च कर्म विद केवल कर्म जानता है उद्गित कर्म को जानता है गुण विशिष्ट नहीं जानता अक्षर याथात्म न वेद अक्षर का जो यथार्थ स्वरूप है ओंकार के वो नहीं जानता वेद तो उभव गुरुता कर्म कर्म तो उद्गित कर्म तो दोनों ही करते हैं या उद्गित कर्म है दोनों ही करते हैं उद्गान कर्म करते हैं दोनों ये ठीक है पूर्वादि बोल रहा है ठीक है कहते हैं नानो कर्म कर्तृत्व विद्वत अविदुषोर विद्वान एवं तत्फलम अस्मते न विद्वानी थी कथम इतिहास आशंका सिद्धांत की ओर से शंका कर दी कि भाई कर्म के करने में विद्वान हो गई वो फल होगा विद्वान अगर समान होने पर भी विद्वान ही उसका फल प्राप्त करता है और विद्वान फल प्राप्त नहीं करेगा एक देश कोई बोले या कैसे होगा दोनों को फल मिलना तो शंका करे तो वो बोलेगा पूर्वादि बोलेगा तयोश्च करके बोलेगा टिप्पणी है कथम इति अन्यून अन्योन अनतिरिक्तम न्यून न अन्यून अनतिरिक्तम ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं विद्वान को ही फल मिलना अज्ञान माने अविद्वान को नहीं मिलता कर्म करने पर भी ऐसे कहता है ऐसा शंका उठाई है देशी ने पूर्ववती बोलेगा नहीं नहीं तयोश से कर्म सामर्थ्य हरे फलम से वो दोनों को चाहे विद्वान हो चाहे विद्वान हो वो दोनों को क्या होगा कर्म के सामर्थ्य से ही फल मिलेगा तयोश्च कर्म सामर्थ्य फलम से किम तत्र अक्षर या तो विज्ञान ना फिर उस स्थिति में कर्म से ही फल मिलना है तो फिर उस अक्षर के यथार्थ स्वरूप जानने के विज्ञान से क्या लेना देना ये पूर्वादि बोल रहा है ठीक है इति शब्दस्तु आक्षिपति इति शब्दस्तु आक्षिपति इति अनन संबंध या इति दिया तत्र अक्षर याथात्म विज्ञान इति क्यों ऐसा कहा था इति शब्द इति आक्षिपति मेरे द्वारा आक्षेप किया जाता है पूर्वादि ऐसा बोलता है आक्षिपते कर्म से फल मिलना है फिर विज्ञान से उपासना से क्या लेना चिंतन से क्या फल मिलेगा ये ये पूर्वादि का कहना है कथम विद्वत अभिदेश्वर अभिषितम फलम सिद्धांत की ओर से भाई दोनों का फल कैसे समान होगा ज्ञानी और अज्ञानी का कथम विद्वत अभिदेश्वर अभिशिष्टम फलम कथम दोनों के समान फल कैसे होगा ये शंका उठाई तो आदि बोलता है दृष्टम देखा है जानने वाला न जानने वाला दोनों को समान फल मिलता है कहा देखा है तो कहा दृष्टम ही लोग हरि तक भक्ष है हरण खाने वाला हरण का सेवन करने वाला व्यक्ति है एक हरण की महिमा को समझता है क्या क्या काम करती है क्या है इसमें गुण जानता है और एक नहीं जानता दोनों का एक ही क्रिया होगी विरेचन क्रिया हरि तकी भक्ष काम नहीं दृष्टमी लोग हरि तकिम भक्ष है तो हरण खाने वाला जो व्यक्ति होगा दो व्यक्ति हैं तद रसा अभिज्ञा इतर एक तो उसके स्वभाव को जानते हैं हाँ, ये क्या क्या गुण वाली है वस्तु और एक नहीं जानता किंतु काम तो एक ही कर रहा दोनों का फल तो मिलेगा दोनों का विरेचन होना मल साफ होना फल मिलेगा तो देखा है तो यहां भी ओंकार के विषय में जान करके कर्म करता हो या नहीं जान के फल तो एक ही है उनके कर्म का फल एक ही मिलेगा तो फिर विज्ञान पूर्वक कर्म करना क्यों कहा ये पूर्वादि के प्रश्न है ठीक है पूर्वादि टीका में अनुमान देता है दिमतम न स्वतंत्र फलम तो ओंकार की जो उपासना बताई आपने वो स्वतंत्र फल नहीं स्वतंत्र फलम ना अंग ज्ञानत्वाद उद्गित कर्म का अंग है वो उद्गित कर्म में ओंकार अंग है तो अंग ज्ञान है उपासना वो अंग ज्ञानत्वाद आज्ञावेक्षणवत जैसे यज्ञ में यज्ञ कर्म में घृत को देखना घी को देखना यजमान और यजमानी का आज्ञावेक्षण होता है वो यज्ञांग है यज्ञांग कर्म है उसी प्रकार यहां भी ओंकार का जो विज्ञान है यज्ञ का अंग है जैसे आज्ञावेक्षण यज्ञ का अंग है उसी प्रकार ये भी आका है तो अंग से फल नहीं मिलता फल अंगी से मिलता है वहां याग से फल मिलता है आज्ञावेक्षण से फल नहीं मिलता नियम करना है इसी प्रकार यहां भी उद्गित कर्म से फल होगा ओंकार के विज्ञान से क्या फल मिलेगा कोई फल नहीं ये पूर्वादि का कहना अनुमान है विमतम जो विवादास्पद है ओंकार की जो उपासना बताई आपने वह न स्वतंत्रम फलम स्वतंत्र फलम न स्वतंत्र फल वाला नहीं है वो क्यों अंग ज्ञान तो अंग ज्ञान है उपासना आज्ञावेक्षण कहा जैसे घृत छाया देखना होता है घृत में अपनी छाया देखनी होती है यजमान और यजमानी को वो क्या है यज्ञ का अंग है इसी प्रकार ये भी उद्गित कर्म का अंग है इसलिए स्वतंत्र फल नहीं है वो कर्म ही फल देगा ये पूर्वादि का अनुमान है इसमें सिद्धांति दोष देंगे हेत्वाभाष सिद्ध करेंगे जो आद्यावेक्षण हेतु को हेत्वाभाष सिद्ध करेंगे माने वो स्वतंत्र फल वाला है उपासना ही बोलना चाहेंगे ये कहेंगे आगे तो न नैवम कहते हैं सिद्धांत कहना ऐसा नहीं ऐसा न, न एवं सिद्धांत का ऐसा नहीं है यस्मात जिससे कि देखो नाना है ज्ञान और अज्ञान भिन्न भिन्न मार्ग वाले हैं जानना और न जानना में बहुत अंतर होता है यस्मात नाना भी विद्या च अविद्या च जानना और न जानना दोनों भिन्न भिन्न है विरुद्ध है दोनों ठीक है हेतुत्व अवतारितम वाक्यम व्याचे हेतु रूप से लिया था उसी को व्याख्या करते हैं क्या करते हैं भिंदे ही कहा यस्मात नाना तो विद्या च विद्या च हेतु रूप से लिया था उसी की व्याख्या करते हैं भिंदे ही विद्या विद्ये ये दोनों भिन्न है विरोधी है जान करके और अज्ञान में भिन्न होता है तू शब्द पक्ष व्यापित पूर्व में पूर्व पक्ष चल रहा था तेन उभव कुरुत यद एदम वेद यश न वेद इत्यादि आगे ये नाना तू आया तो ये पक्ष व्यावृत्ति किया सिद्धांत पक्ष चल रहा है यहां से तू शब्द पक्ष व्यावृत्ति कहा ठीक है मैं विद्योपासना कर्म अविद्या विद्या माने है, हाय विद्या माने उपासना और कर्म माने अविद्या अज्ञान अविद्या है उपासना और अविद्या तय और भिन्नत्व पृथक फलवत्व भिन्न माने गए पृथक फल वाले हैं उपासना का फल भिन्न है कर्म का फल भिन्न है आज्ञावेक्षण जैसा नहीं आज्ञावेक्षण एक कर्म ही है यज्ञ का भी कर्म है वो तो समान फल वाला होने से एक ही कर्म होगा यहां अलग है फल विद्या माने उपासना कर्म माने अविद्या तयोर भिन्नत्व पृथक फलवत्व पृथक फल है दोनों का तन्न भाई विद्या अर्थ में इसलिए इसलिए विद्या व्यर्थ नहीं है उपासना व्यर्थ नहीं है यदेव विद्या करोती श्रद्धा है उपनिषद तदेव ब्रियवत्तर भवती है जो विद्या के साथ करता है उपासना के साथ वो विशेष हो जाता है विशेष फल होता है ये बोलना है ठीक है विद्या स्वतंत्र फलवत्व नास्ती पक्ष से व्यावृत्ति प्रकार में प्रवचन पूर्वादि ने कहा था कि ज्ञान का फल स्वतंत्र है ही नहीं ये पक्ष को व्यावृत्ति के प्रकार व्यावृत्ति करना है नहीं नहीं अलग फल है सिद्ध करना है इसके लिए कहा न सिद्धांत ने कहा न ओंकार से कर्मांगत्व मात्र विज्ञान कर्मांगत्व मात्र विज्ञान विवाह ओंकार केवल कर्मांग मात्र विज्ञान वाला नहीं है ये कर्म का अंग है इतना जानकारी के लिए नहीं ओंकार क्यों ओंकार में रसतमत्व आपकी समृद्ध गुण विज्ञान भी है किमतर ही तत्व भी अधिकम ये तीनों गुणों से भी अधिक जानना है उपासना भी करनी है तत्व भी अधिकम कहा ठीक है तद अंगम कर्मांगम उद्गीतम मात्रम ज्ञानम जो उद्गीत का कर्म क्या होगा कर्मांग जो उद्गीत है उस, उसका ज्ञान है तस्मात अधिक ज्ञान उससे भी अधिक ज्ञान है उपासना का विशिष्ट अक्षर ज्ञान से रसतमत्व आदि विशिष्ट अक्षर का ज्ञान का उससे भी अधिक ज्ञान है यद तो पुनरोक्तम तयोस्थ कर्म सामर्थ्य आदि फलों से तथा पूर्वादि ने जो कहा था उन दोनों के कर्म के सामर्थ्य से फल मिलेगा जान करके करे चाहे अनजान से करे दोनों का कर्म के सामर्थ्य से फल होता कहा था उसके अर्थ में कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं दोनों का फल भिन्न भिन्न है दृष्टम ही लोके बणिक सवार कहा लोक में देखा है एक व्यापारी है हीरा मोती आदि का मणि का व्यापार करने वाला व्यक्ति है और एक सबर भील है एक पत्थर के रूप में जानता है सामान्य रूप में जानता है और एक विशेष उसका पहचान होता है मणि का पहचान कोई भोजन से तो होना नहीं है दृष्टि से होना है विशेष बुद्धि से पहचाना जाता है तो दृष्टम ही लोके पणिक सवरयो पद्मराग आदि मणि बिक्रे पद्मराग आदि जो मणि होते हैं उनकी बिक्री काल में देखा जो विज्ञान अधिक क्या उस मणि के विषय में जो व्यापारी का ज्यादा ज्ञान है सबर की अपेक्षा इसलिए फल अधिक मिलता है उसको द्रव्य अधिक मिलेगा बेचते समय में सबर को कम फल मिलेगा ऐसा विज्ञान अधिक होने से फल अधिक होता है ये दृष्टांत है सिद्धांत दिया ठीक है बताते तस्माद आया दृष्टम कहा यज्ञ यद तो अंग ज्ञानत्वादिति पूर्वादि ने एक अनुमान दिया था विमतम न स्वतंत्र फलम अंग ज्ञानत्वाद आज्ञावेक्षणवत अब यह अनुमान को मानेंगे तो स्वतंत्र फल नहीं होगा ओंकार के उपासना का फल स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या होगा इस अनुमान में दोष देते हैं सिद्धांत यत्तु पूर्वादि ने जो कहा था अंग ज्ञानत्वाद हेतु दिया था विमतम न स्वतंत्र फलम अंग ज्ञानत्वाद आज्ञावेक्षणवत ऐसा जो अनुमान दिया है पूर्वादि ने अंग ज्ञानत्व जो हेतु है वो सद हेतु नहीं असद हेतु है सिद्धांति बोलना चाहते हैं दुष्ट हेतु है इसके द्वारा शादी की सिद्धि नहीं होगी स्वतंत्र को मानी स्वतंत्र फल का अभाव सिद्ध नहीं होगा इस हेतु से कई हेतु तो कहते हैं यद तो अंग ज्ञानत्वाद यदि तत्किम अंगित्व अंगत्व सती ज्ञानत्व अंग ज्ञान में क्या करना अंग होता हुआ ज्ञान ऐसा अर्थ करना है अंग ज्ञान शब्द का अर्थ अंग ज्ञानत्वाद बोला हुआ है अंगत्व सदी ज्ञानत्व मैंने अंग होता हुआ ज्ञान ऐसा अथवा किम किम आश्रित विहितम अथवा आश्रित के अंग को आश्रय लेकर के विहित ज्ञान है वो अंग को आश्रय करके विहित ज्ञान है अथवा एक तदेव ज्ञानत्व विशेषता अथवा अंगाश्रितत्व ज्ञान का ही विशेषण होगा तीन विकल्प में क्या मानना चाहते हो आप सिद्धांत पूछते हैं यत्व अंग ज्ञानत्वाद तर्किम वो जो तुमने कहा था अंग ज्ञानत्व को हेतु बनाया था वो हेतु क्या है वो अंगत्व से भी ज्ञानत्म अंग ज्ञानत्व ऐसा अंग होता हुआ ज्ञान ऐसा अर्थ करना चाहते हो अथवा किंबा आश्रित भी तत्व जैसे चमसेन अपप्रणीया गोदोहन पशु काम है यज्ञ में जल का प्रणन विधान है जल का प्रणन करना विधान है अगर वो पशु काम हो तो क्या गोदोहन पात्र से करेगा वो तो दूसरे में आश्रित करके विधान किया हो गोदोहन पात्र जल का तो प्रणन करना था किंतु चमच से न करके यदि पशु चाहता तो गोदोहन पात्र से करे वो आश्रित विधान है ऐसा करना चाहते हो अथवा एक ज्ञान विशेषित हो अथवा ज्ञानत्व का यही विशेषण बना होते हो क्या करना चाहते हो कहते हैं नाद्य पहला वाला पक्ष नहीं होगा ज्ञानत्व सती अंगत्व सती ज्ञानत्व नहीं हो सकता अंग ज्ञान नहीं जो हेतु दिया था अंग ज्ञानत को हेतु जो दिया अंगत्व स्थिति ज्ञान तो नहीं हो सकता क्यों तन निर्धारण अनियम न्याय न सिद्धि ब्रह्मसूत्र में उपासना का फल अतिरिक्त ही होता है वहां अंग अंगक संबंधी ज्ञान है किंतु अतिरिक्त फल होता है वहां ब्रह्मसूत्र में कहा तन निर्धारण अनियम न्याय न तन निर्धारण का अनियम जो न्याय है नियम ने ऐसा कहा है एक, एक नंबर टिप्पणी कहा तन निर्धारण अनियम तदृष्टि पृथक अप्रतिबंध फलम ऐसा ब्रह्मसूत्र है उसका निर्धारण कैसा है तो इसी का अर्थ करते हैं तेषाम कर्मांगाश्रिता नाम जो कर्म कर्म के अंग में आश्रित जो उपासनाएं हैं यहां भी उद्गित कर्म में आश्रित है ओंकार उसकी उपासना है यहाँ कर्मांग में आश्रित का उपासना है उद्गित कर्म में आश्रित ओंकार है उसकी उपासना की चर्चा है तेषाम कर्मांगाश्रिता नाम वो जो कर्म के अंग में आश्रित जो उपासनाएं हैं उपासना नाम जो निर्धारण उपासना है कर्म के अंग में आश्रित निर्धारण किए गए उपासना का अनियम नियम नहीं नित्यवत अनुष्ठाना भाव जैसे नित्य कर्म को करना ही होता है कर्म करते करना ही होता है इस प्रकार कर्म के कर्म के अंग में जो आश्रित उपासना है कर्म करने पर करना ही पड़ेगा कोई नियम नहीं है यहाँ नित्य कर्म जैसा नहीं है कर्म करने पर उपासना करना ही है ऐसा नियम नहीं ये अनियमय अनियम कहा नियम नहीं है नित्य कर्म जैसा ये नहीं है कि कर्म करने पर ये उपासना करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है फल विशेष चाहते तो करे नहीं चाहता नहीं करे यहां तो ऐसी स्थिति है तस्य अनियम उस उपासना के लिए कोई नियम नहीं है कर्मांग उपासना जो है कर्म के अंग को आश्रित करके किए जाने और उपासना का कोई नियम नहीं होता फल चाहता हो तो करे नहीं चाहता तो करे यह है क्यों तेन उभव गुरुता यही मंत्र का विचार है ये सूत्र ब्रह्म सूत्र में तन निर्धारण अनियमत दृष्टि पृथक की अपृत मतलब यही यही मंत्र का वहां किया तेन उभव गुरुता यही मंत्र है वहां विचार के विषय तेन उभव गुरुता इत्यादि श्रुतौ दर्शना या देखा है उपासना से कर्म करता है या वासना रहित कर्म करता है ऐसे यही कहा तेरा उभव गुरुता यदि यश्च वेद यश्च न वेद दोनों बोला हुआ है दोनों ही कर्म करता है या उपासना विशिष्ट करता है या उपासना रहित करता है दोनों बातें आई है यहाँ एक कहा इसी मंत्र में आगे कहा यदेव विद्या करोती श्रद्धा या उपनिषद तदेव बीयवत्तरम भवती कहा यदि उपासना सहित कर्म करेगा तो विशेष हो जाएगा नहीं करेगा तो सामान्य हो जाएगा किंतु उपासना करना ही है कोई नियम नहीं है करेगा तो विशेष फल हो जाएगा एक फल होगा कहा यदेव विद्या करोती इत्यादि कर्म फलता पृथक विभाव कर्म फल से अतिरिक्त फल सुना उपासना क्या वीरवत तरत्व यह फल सुनाई पड़ा यदेव विद्य करोती श्रद्धा या उपनिषद तदेव वीरवत तरम भवती अतिशय शक्तिशाली फल मिला है वीरवत तरत्व वीरवत तरत्व आत्मकर्म कर्म समृद्धि रूप अप्रतिबंधक फलम अप्रतिबंधक फल मिल जाएगा उपासना करेगा तो फल तो भी न नित्यवत अनुष्ठान तैसा नित्य कर्म के समय अनुष्ठान नहीं कि जब अंगाश्रित उपासना कर्म करते समय अवश्य करना पड़ता है कोई नियम नहीं है यदि फल चाहता हो तो करे नहीं तो नहीं करे नित्य कर्म जैसा नहीं नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा नहीं तो प्रतिवाय लग जाएगा नित्य कर्म जैसा नहीं कहा आगे कहते हैं ना द्वितीय द्वितीय भी नहीं होता है मैंने आश्रित विहित भी नहीं है किसी कर्म पे आश्रय करके फिर ये उपासना विधान हो ऐसा भी नहीं है जैसे गोदोहन वाला होता है न द्वितीय गोदोहन है व्यविचारा गोदोहन में देखा है ये नहीं कि चमसे न अपप्रणीयाद कहा चमच के द्वारा जल का प्रणन करे यज्ञ मंडप में यदि पशु विशेष चाहता हो तो अतिरिक्त से करे जैसे गोदोहन पात्र से करे यदि पशु नहीं चाहता हो तो चमच से करेगा वो कोई नियम नहीं उपासना होना ही चाहिए कोई नियम नहीं व्यविचार है वहां यही कहा गोदोहन है व्यविचारार कहा न तृतीय तृतीय तो भी नहीं तृतीय भी नहीं माने एक तदेव ज्ञान विशेष दृष्टांत से साधन विकल्प दृष्टांत में साधन हेतु नहीं मिलेगा दृष्टांत में हेतु नहीं मिलेगा क्या है अंग ज्ञानत्व है ना आज्ञावेक्षण जो दृष्टांत है आपके यहां आपने दृष्टांत क्या दिया आज्ञावेक्षण दिया है वहां पर हेतु नहीं मिलेगा अंग ज्ञानत्व नहीं मिलेगा फल साधन विकल्प आद्यावेक्षण से आश्रित विधि उदाहरण बहिर्भूतत्वाद जो आज्ञावेक्षण जो है ना किसी अंग के आश्रित करके नहीं बनाया गया है वो अतिरिक्त है वो यहां से आश्रित विधि नहीं हो ये कहा आज्ञावेक्षण से आश्रित विधि उदाहरण बहिर्भूतत्व आश्रित करके करने वाला जो विधान विधि वाक्य है हाँ, उससे अतिरिक्त बहिर्भूत है वो आज्ञावेक्षण अंग संबंधी ज्ञान ज्ञानत्व मात्र दृष्टान्त अंग संबंधी ज्ञान से इतने मात्र दृष्टांत हो जाता था फिर सती अंगत्व उपाधि संभवात और अंगत्व उपाधि भी हो जाएगी इसलिए यदि अभिप्रेत्य ज्ञानाधिक्य फलाधिक्यम इत्यत्र अंतर वाक्य में जाएगी ज्ञान ज्यादा होने पर फल भी अधिक होता है आगे का वाक्य है यदि वह विद्या करोती श्रद्धया उपनिषद तदेव बुरीवत करमती इस वाक्य को जाते हैं कहा तस्माद इत्यादि कहा था भाष्य में तस्माद यदेव विद्या विज्ञान में युक्त विज्ञान पूर्वक ज्ञान करोति कर्म कर्म करता है श्रद्धया श्रद्धान से श्रद्धालु होता होगा और सन उपनिषदा मानी योगे न युक्त कहा उपनिषद करता है देवता उपासना के साथ करता है एक तो जान करके करता है दूसरा देवता की उपासना से करता है तो वो होता है फल ऐसा कहा ठीक है योग माने क्या है योग माने देवतादि विषय उपासना योग शब्द का अर्थ उपनिषद शब्द का था योग योग माने है देवता आदि की उपासना विषय उपासना सही करता हो कर्म के फल स्वरूप को जानता हो और उपासना सहित करता हो श्रद्धा से करता हो तो अतिशय फल होता है कहा इति शब्द तदर्थ समाप्ति अर्थ कहा इति शब्द जो है उसके अर्थ की समाप्ति के लिए है विज्ञान अच्छा विज्ञानम उद्गीतादि अंग मात्र विषय उपासना अतिरिक्तम तेना इतिहावत तस्मात का जो विज्ञान है उद्गीतादि अंग मात्र विषय उद्गीतादि का अंग मात्र का विषय करता है उपासना उद्गीत का अंग है ओम ओंकार उसके विषय करने वाले उपासना है उससे अतिरिक्त है विज्ञान विज्ञान यहां पर उपासना से अतिरिक्त है जानकारी अलग है कहा अतिरिक्तम योग माने होता है देवतादि विषय उपासना इति शब्द तदर्थ समाप्त करता है यहाँ इति है विधिवत तरम अभितत कर्मणों अधिकम फलम भवती इति जो इति दिया था ये उसके अर्थ समाप्ति है इसके लिए है तत्रैव अर्थम सिद्धार्थम सिद्धम अर्थम कथे उसी में अर्थ से सिद्ध जो अर्थ आएगा एक तो शब्द से अर्थ होता है एक अर्थ से सिद्ध अर्थ होता है अर्थ से सिद्ध अर्थ कहते हैं विद्वत कर्मणों विद्वत तत्वजात श्रुति में बोल दिया जान करके करने वाले के कर्म अतिशय फलशाली होने से हाँ की कर्म विरिवत एवं वहां विरिवत तर लग गया तरप लगा है तो अज्ञानी का कर्म भी फलशाली तो होगा ही इति अभिप्राय ये कहा ठीक है ननु अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्त कर्म अधिकारी कर्म के अधिकारी कौन है पूर्व मीमांसा में विचार किया कौन कर्म कर सकता है वैदिक कर्म वैदिक कर्म का अधिकारी क्या है अर्थी फल चाहता हो वही कर्म करेगा फल के अधिक फल चाहता हो तो कर्म का अधिकारी होगा ये ज्ञाति का अधिकारी कर्म अर्थी समर्थ भी हो सामर्थ्य भी उसके पास करने में समर्थ हो और विद्वान हो कर्म के विषय में जानकारी रखता हो और अपर श्रुति के द्वारा किसी के बहिष्कृत नहीं किया हो श्रुति जैसे काणा है कुब्जा है इत्यादि को कर्म करने का अधिकार नहीं दिया है लंगड़ा होगा एक मंडप का परिक्रमा नहीं कर सकता अंधा होगा दिखेगा नहीं उसको ये सब परिदस्त है कर्म नहीं कर सकते अधिकारी के निरूपण में ऐसा कहा है तो अधिकारी कौन होता है अर्थी समर्थ हो एक एक तो फल चाहने वाला हो दूसरा अर्थ समर्थ हो विद्वान हो कर्म के विषय में जानकार जानकारी रखता हो और श्रुति ने उसको परिष्कार बहिष्कृत भी नहीं किया हो कर्म नहीं कर सकता नहीं कहा हो ऐसे कर्म में अधिकारी ऐसे अंगीकार किया स्वीकार किया है पूर्व मीमांसा में ऐसा होने से अविदुष तल लक्षण अनाक्रांत अज्ञानी को तो वो लक्षण घटा नहीं जानता ही नहीं वो क्योंकि अधिकारी में कहा है अर्थी हो समर्थ हो विद्वान जानकार होगा अज्ञानी जानता ही नहीं तो वो तो लक्षण नहीं घटेगा कैसे कर्म करेगा ये प्रश्न है अर्थी समर्थ हो विद्वान अपरिदस्त कर्मण इति कर्मणि अधिकारी इति अंगीकारात ऐसे स्वीकार होने से अविदुषा जो अज्ञानी है तल लक्षण अनाक्रांत था तो उसके लक्षण के घेरे में नहीं आया है जानता नहीं है अनाक्रांत अनधिकार अनधिकारात वो तो अधिकार नहीं होगा तो फिर प्रथम तत्कर्म वीरवत उसके कर्म फिर फलशाली कैसे होगा ये प्रश्न है पूर्वादि का वीरवत प्रतिज्ञा है ऐसी प्रतिज्ञा कैसे की जाती है ऐसा कहा तत्राह कहा न च के सिद्धांति बोलते न च तो कर्म ही अधिकार अज्ञानी को कर्म का अधिकार नहीं है वास्तव है क्यों इसी में अवशस्त कांड में दिखाई पड़ेगा कि उर्गाता आदि थे उर्गान कर्म का देवता को नहीं जानते थे अज्ञानी थे देवता के विषय में फिर भी कर्म कर रहे थे वो यानी आगे आएगा दसम खंड में न तो अभी तो सब कर्म ने अंधिकार अज्ञानी को कर्म में अधिकार नहीं है ये बात नहीं है अवशस्ते कांडे अभिषाम अपनी आत्मित्य दर्शन अवशस्त कांड जब आएगा खंड आएगा दसम खंड वहां अज्ञानी लोग थे जिस जिसके वो मंत्र आदि का प्रयोग करते थे उसमें अनुगत मंत्र देवता को नहीं जानते थे वो फिर भी कर्म कर रहे थे वो देखा है कहा ठीक है औसस्त्य माने उशस्ति संबंध है औशस्त्य कांड का अर्थ उशस्ति संबंधी कांड उशस्ति जागरण जिसकी कथा प्रसिद्ध है आगे आएगा तो उशस्ति संबंध है जैसे वह मंत्र आएगा मदती हदेश इत्यादि आएगा ओले के द्वारा खेती नाश हो गई ओला वज्र असनिपात हो गए खेती नाश हो गया दुर्भिक्षा आ गई तो देश छोड़ करके अन्यत्र चले गए छोटी सी पत्नी लेके जाते हैं ऐसे ऐसी कहानी उनकी ऐसी कहानी आएगी तो उशस्ति संबंध है माने मटची हतेशु इत्यादि के है ऐसे वहां से संबंध होगा मटची हतेशु से आरंभ होगा उसका अंतर तस्मिन ग्रंथ जाते हुए जो संबंध आएगा ग्रंथ आएगा उसमें विद्याहीना नाम अपनी जो उदगाता अध्वर्यु होता आदि थे वहां तीनों जानकारी नहीं थी उस देवताओं की जानकारी नहीं थी उनको विद्याहीना नाम अपनी ज्ञान रहता नाम अपनी कर्मानुष्ठान दृश्य थे कर्म का अनुष्ठान दिखाई पड़ रहा वहां राजा क्या कर्म कर रहे थे वो लोग दृश्य थे दृश्य थे प्रश्नोत्तर वहां पूछते हैं उसे स्थित आग्रह प्रश्नोता के पास जो श्रुति करने वाला होगा प्रश्नोता उसके पास जाकर के पूछते हैं ऋग्वेदीय जो होगा स्तुति करने वाला उसका प्रश्नोत्तर हे प्रश्नोता या देवता जिस देवता इस स्तुति में अनुगत है उसको जानते हो बोलता नहीं जानता ऐसा है प्रश्नोत्तर या देवता इत्यादि ताम चेत अविद्वान यदि उसको नहीं जानने से तुम्हारे सिर गिर जाता ऐसे ऐसे बोलेंगे वहां मेरे सामने कर्म करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाए फिर कर्म करना छोड़ देते हैं वो फिर इनकी अनुमति से आगे कर्म करेंगे ऐसा आएगा अविद्वान इत्यादि लिंगादि ज्ञापक बनता है अज्ञानी भी कर्म करता है तस्माद अविदेशों की कर्मणी अधिकार है इसलिए अज्ञानी को भी कर्म अधिकार है सिद्ध हो जाता है अधिकारी लक्षण है तो ज्ञाना भावे भी द्रव्यादि ज्ञान मात्र विशेषण सिद्धि अधिकारी लक्षण फिर ये कैसे बोल दिया वहां विद्वान कैसे बोला है अधिकारी लक्षण कहा था अर्थी समर्थो विद्वान अपरिदस्त इत्यादि शब्द है कर्म भी कर सकता वहां पर फिर विद्वान करके क्या लेना वहां तब कहते विद्वान का अर्थ इतना लेना है वहां अधिकारी लक्षण अधिकारी लक्षण तो ज्ञानाभाव भी विशेष ज्ञान नहीं है न होने पर भी क्या करना द्रव्यादि ज्ञान मात्र ये ये वस्तु की जरूरत है इतना जानकारी है उसको इस कर्म में एक इन वस्तुओं की जरूरत है द्रव्यादि का ज्ञान है देवता आदि का ज्ञान नहीं द्रव्यादि का ज्ञान है ये वस्तु से ये काम होता है इतना जानता है इतने ज्ञान से काम चल जाएगा कहा अधिकार लक्षण अधिकारी लक्षण है तो ज्ञानाभाव थी देवता का ज्ञान न होने पर भी द्रव्यादि ज्ञान मात्र जो जो सामग्री है वो उसको जानता है वो ये ये सामग्री चाहिए हाँ, द्रव्यादि विज्ञान मात्र से ही विशेष सिद्धि कहते हैं उसकी सिद्धि हो जाएगी ज्ञानवान की सिद्धि हो जाएगी कहा गुणवद अक्षर ज्ञानम स्वतंत्र फलम गुण वाला जो अक्षर ज्ञान है समृद्धि आपति आदि जो गुण वाला है वो गुण वाला जो अक्षर का ज्ञान है ओंकार का ज्ञान स्वतंत्र फल है कर्म का फल कैसे अतिरिक्त फल है उसका ये सिद्ध हो गया तत्व वो जो स्वतंत्र फल है क्या है वो गुणवद ज्ञान तो कहा रसतम गुणवत्त अक्षर विषय एकम उपासनम तो जो रस वाला जो गुण है रसतम कहा था ये आठवा रस है सबसे बड़ा रस है कहा था तो गुणवल अक्षर विषय एकम उपासना एक उपासना ये सारा मिलकर एक ही उपासना तत्र विधि उद्देश्य फल से अश्रुतत्व भी देखो रसतम वाक्य में वहां पर फल वाक्य नहीं आया फल नहीं सुना अमुक फल मिलेगा ऐसा नहीं आया दूसरे में तो फल आया आप हिता वही कामान भवती आप तृतीय वाक्य में आया है आपकी में आया है और समृद्धि में भी होगा समर्दयिता हवाई कामानम भवती फल बताया समृद्धि कराने वाला होगा बोल दिया किंतु रसवत वाक्य में फल नहीं है केवल उपासना का विधान सुनाई पड़ रहा है फल सुनाई नहीं पड़ रहा क्या करना वहां यही प्रश्न है तत्व रसतम गुणवल अक्षर विषय एक उपासना एक उपासना है वो तत्र विधि उद्देश्य है जो विधि का उद्देश्य है वहां विधि वाक्य है फल से अश्रु तत्व भी फल नहीं सुनाई पड़ा फिर भी विश्वजित न्याय ना तत्कल्प थे उस फल वहां फल की कल्पना की जाती है एक विश्वजित न्याय होता है एक रात्रि सत्र न्याय होता है युक्ति हाँ, रात्रि सत्र याद याद एक होता है एक होता है विश्वजित याद विश्वजिता ये देता इतना वाक्य आया विश्वजित के माध्यम से याद करें क्या मिल रहा है फल नहीं पता तो वह फल की कल्पना की जाती है स्वर्ग फल होता है उसका हम्म। और फल की कल्पना करनी पड़ेगी जहां फल नहीं सुनाई पड़ा एक एक विधान है विशुद्धता ये तो वहां पर फल की कल्पना करेंगे स्वर्ग फल और एक रात्रि सत्र युक्ति है क्या है वहां एता हवाई रात्रि उपयंती ऐसा आया वहां इन रात्रियों को प्राप्त करेगा फल सुनाई पड़ा किंतु एक एक विधान का पता नहीं वहां एक एक कल्पना करते हैं रात्रि तत्रम कुरियात ऐसे एक एक की कल्पना करते हैं माने वेदों में जहां पर केवल फल ही फल सुनाई पड़ा है वहां एक एक की कल्पना और जहां एक एक सुनाई पड़ा वहां फल की कल्पना ऐसे करते हैं जहां पर फल की कल्पना करनी वहां विश्वजित न्याय बोलते हैं और जहां एक एक की कल्पना करनी हो रात्रि सत्र न्याय बोलते हैं ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो यहां पर रसतमत्व वाले पंक्ति में अष्टम रस कहा तो उसमें फल नहीं बताया क्या फल मिलेगा रसवन विशिष्ट गुण रसतमत्व तो विशिष्ट ओंकार की उपासना करने से क्या मिलेगा फल नहीं बताया तो वहां फल की कल्पना करनी है बोलते ही बोलते हैं विश्व ने वह ने कहा बाहर से क्या लेना रात्रि सर ने आए नहीं खल कम समय थी यहाँ बाल है तो विश्वजीत ने आए ना अथवा रात्रि सत्र ने आए ऐसा जानना चाहिए कहा वहां फल की फल कल्पना कर दी जाती है और आगे आपकी गुणवत्ता समृद्ध गुणवत्ता अक्षर से द्वे विज्ञान है प्रत्येकम फलश्रुति उनका फलश्रुति है दोनों उपासना है वो भी हाँ। आपयिता हवाई भवती फल सुनाई पड़ रहा है समर्दयिता हवाई भवती फल सुनाई पड़ रहा है वो स्वतंत्र उपासना हो जाते हैं कहा तथा त्रीणी उपासना ने पृथक फलानी तीन उपासना है ये रसतमत्व विशिष्ट उपासना आपकी आपतिमत्व उपासना और समृद्धिमत्व उपासना पृथक फल वाले हैं विवक्षतानी इत्यतः इसलिए कहा रसतम आपती समृद्धि गुणबल अक्षरम इत्येकम उपासना माने विशेषण तो तीन हो गए किंतु अक्षर तो एक ही है तीन प्रकार से उस अक्षर की उपासना होती है रसतमत्व रूप से आपती रूप से समृद्धि रूप से ये कहा जा रहा है टीका में कहा न तावत यह उपासित विधि व्यतिरेकण मध्य विध्यंतरम उपलब्ध थे एक ही विधि मिली है पहले शुरू में ओम यदि तद अक्षरम उदगीतम उपासित उसके आगे कोई विधि वाक्य नहीं मिला मंत्र में कहीं उपासित पद में आया कहीं भी न तावत यह इस प्रकरण में उपासित उपासित जो है विधि व्यतिरिक एक उपासित विधि आया शुरू के वाक्य में आया ओम इत अक्ष ओम इत अक्षर उपासित यही एक आया है ओम इति अक्षर उपासित उससे अतिरिक्त रूप से बीच में कोई विधि वाक्य नहीं मिला है मंत्र में इसलिए सब एक ही उपासना मान्य है यहाँ सारे मिलकर उपासना एक ही है ऐसा मानना जो भिन्न भिन्न वाक्य मिले ना विधि वाक्य कहा न कहते बीच में आया तो है आप अहिता हवाई कामानम भवती इत्यादि कहते वो नहीं न तो आप अहिता हवाई कामानम इत्यादि वाक्य फलश्रुति विधि उन्हें वहां भी तो विधि की कल्पना करे हाँ, हाँ। क्यों ओम इतना अक्षर उपासित मैंने रात्रि सत्र न्याय लगा करके माने आपहिता तो वही कामाना भवती में फल सुनाई पड़ा है विधि नहीं सुनाई पड़ा तो हम विधि की कल्पना करें करें नहीं वो पहले वाली विधि एक ही है वो विधि वाक्य तो वही है वो विधि एक अक्षरम उपासित अच्छा आपहिता तो अवय कामाना इत्यादि वाक्य फल श्रुतिया विधि है जैसे रात्रि सत्र सदर याद में यही न्याय यही बोलता है फल सुनाई पड़ता है तो एक एक कल्पना करते हैं याग की कल्पना करते हैं या भी विधि की कल्पना करे कहते हैं नहीं रसतम गुणवद अक्षर विज्ञान विधौ फलाकांक्षणी अर्थवाद फलांश अन्वयन अनेक अनेक गुणवद एक विज्ञान विधि संभवे विधि भेद कल्पना अयोगात न खलु अर्थवादी अर्थवादी का फलपद अनेक विशेषण एक उपासना विषय विधि वाक्य के संभवे वाक्य में भेद उचित दो वाक्य बनाना यहां पर उचित नहीं होगा कैसे तो कहते हैं देखो रसतम तो गुणवत अक्षर विज्ञान विधान जब रसतम तो गुण वाला अक्षर का ज्ञान होगा उपासना होगी उसका अर्थ है फलाकांक्षी फल चाह रहा है यजमान क्या फल मिलेगा इसका वह फल वाक्य नहीं है आपहिता भाई रसानाम भवती इत्यादि कोई फल वाक्य नहीं है फलाकांक्षा नहीं फल चाहने वाले में अर्थवाद फलांश अन्वयन आगे अर्थवाद फल का अंश लेकर के क्या आपहिता अवय कामानाम भवती इत्यादि जो अर्थवाद है उसको लेकर के अनेक गुण वाले एक विज्ञान विधि संभव है अनेक गुण वाला एक ही उपासना संभव होने पर अनेक गुण वाला है उपासना एक है ऐसा संभव होने पर विधि भेद कल्पना आयोग आद उस विधि वाक्य को भेद करना ठीक नहीं एक ही विधि वाक्य है ओम एक तथा अक्षर उदगितम उपासित वही उपासित विधिलिंग है एक ही विधि वाक्य है विधि भेद करना ठीक नहीं है खलु नो खलु अर्थवाद वादी का फलवत अनेक विशेषण एक उपासना विषय विधि अभ्युपगम में ना वाक्य को संबंध है एक ही होने चाहिए क्या होगा अर्थवादी जो फल है अर्थवाद में कहा हुआ है ओम इति संसति ओम इति उद्गायती हाँ इत्यादि जो बताया है अर्थवाद है वो ओमकार के उच्चारण पर तो स्तुति करता है ओमकार उच्चारण को उद्गान करता है इत्यादि जो आगाम करता है इत्यादि अर्थवाद वाक्य बताया उसको फल को देख करके अनेक विशेषण वाला एक एक उपासना विषय विधि स्वीकार करने से वाक्य के संबंध एक वाक्य हो जाएगा इसलिए वाक्य भेद तुम न उचितम वाक्य भेद करना ठीक नहीं होगा कहा ये तेरह विश्वजित न्याय निरस्त इसलिए विश्वजित न्याय नहीं करना कि फल की कल्पना कर रहा है विश्वजित न्याय में वो यहां फल की कल्पना नहीं करना एक ही उपासना है रसतमत्व वाले में फल नहीं सुनाई पड़ा फल की कल्पना करो ऐसा नहीं विश्वजित न्याय निरस्त है यहां रात्रि सत्र न्याय तो प्रकृत अविरोधी रात्रि सत्र न्याय तो ठीक है अर्थवाद वाक्य सुनाई पड़ा है तो इसकी उपासना की कल्पना करेंगे विधि की कल्पना करेंगे ये हो जाएगा कहा प्रकृत अविरोधी कहा तेरा ही रात्रि न्याय ने फल तृतीया फल सुनाई पड़ने से विधि कल्पनायाम विधि की कल्पना करने पर फिलुप्त एवं उपक्रमो विधि संबंध निश्चित जो विधि है हमारे पास शुरू में है वो भी तद अक्षरम उद्गीतम उपासित वही विधि काम करेगा एक ही विधि वाक्य है कहा अगर अगतश्च उपव्याख्यानम उसी ओंकार की उपव्याख्या है सारी है उसी अक्षर की उपव्याख्या है कहा उपव्याख्यान यदि उक्तस्य जो कहा गया ओंकार है उपसंहार वाक्य ये उसी का ही पहले भी कहा था शुरू में भी कहा था तस्य भी व्याख्यान उसी का ही उपसंहार वाक्य है उपसंहार वाक्यम हलो ये तस्य इत्यादि ये तस्य इत्यादि वही है कहा <clears throat> वही उसी का ही है जो खलु एतस्य अक्षर से व्याख्यान बहुत ही जो मंत्र का आखिर भाग है वो पूर्व में जो कहा था उसी का ही है उसी का समाप्ति का देवता है कहा अच्छा तस्य व्याख्यान विधि उक्त उपसंहार से उपसंहार वाक्य खलु एत इत्यादि तत्र एत शब्द प्रकृत आकर्षण कारण प्रकृत आकर्षण कारण तत्र एत शब्द के द्वारा वो प्रकृति को न लिया यहां सामने जो आ रहा था वो सोने के लिए बहुत आगे चले गए इसका कारण बताते हैं अनेक ही कहा अनेक ही विशेषण अनेक अनेक था अनेक विशेषणों के द्वारा अनेक प्रकार से उपास्य हो उनका इसलिए फल ये तस्व प्रकृति से उद्गत था ऐसा अक्षर उपाख्या जो प्रकृति में ओम यदि ये तथा अक्षर उद्गित उपास्य कहा था उसी की व्याख्या है सारी है अतिरिक्त उपासना या नहीं समझना ये कहा ठीक है अनेक अनेक विशेषण क्या लगा था तो कहते विशेषण यथा रसतम आपकी समृद्धि रूपाणी अनेकानी विशेषणानी ओंकार विशेषण बहुत लगा दिए रसतम कहा आपकी कहा समृद्धि कहा ये विशेषण विशेषणानी तैर विशिष्ट उन विशेषणों से विशिष्ट करके विशिष्टत्व अक्षर से अनेक प्रकार में उपास्यत्व कभी रसतमत्व तो माध्यम माध्यम से उपासना कभी आपकी माध्यम से उपासना कभी समृद्धि के माध्यम से उपासना भिन्न भिन्न हो गए ये कहा प्रकार भेदे भी उपासना से ऐक्य से प्रागुत यदि प्रकार तो भिन्न हो गया रसलम विशिष्ट उपासना आपकी विशिष्ट उपासना समृद्धि फिर भी उपासना एक ही है विशेष से एक है कोई ओंकार ही है यहां विशेषण अनेक होने पर भी विशेष से एक है इसे उपासना एक ही है प्रागुक्तत्व प्रकार भेदे भी उपासना ऐक्य से प्रागे भुक्तत्व प्रकार भिन्न होने पर भी विशेषण भिन्न होने पर भी उपासना एक है पहले कहा था इसलिए प्रकृत से अक्षर से यथद उपाख्यानम उपव्याख्यानम यथल विधान उसी का ही जो प्रकृत अक्षर है उसी के व्याख्या है ये सब जो जो कुछ किया उसे अतिरिक्त नहीं ये सिद्ध हुआ ये कहा ये प्रथमाध्याय का प्रथम खंड पूरा हुआ अगर प्रथमाध्याय के द्वितीय खंड आरंभ होगा यहाँ अध्यात्म और अधिदैव रूप से उसी ओंकार की उपासना करेंगे हाँ, प्राण रूप से और आदित्य रूप से माना नवम खंड तक यहां जो उपासना चलेगी ओंकार भी चलना है भिन्न भिन्न रूप से यहां अध्यापन भेद और अधिदय भेद से उपासना आदित्य रूप से और प्राण रूप से ओंकार की उपासना करेंगे यही बताना चाहते हैं आगे अच्छा का देखिए पहले गुणत्रय विशिष्टम उद्गीत अवय भूतम ओंकार अक्षरम परमात्म प्रतीकम तद्बुद्धि तद्बुद्धिया उपास्यम यदि उपदिष्टम पूर्व में ये उपदेश हो गया है तीनों गुणों से विशिष्ट जो उद्गीत है रसतमत्व आपती समृद्धि वाले जो गुण हैं उन गुणों से विशिष्ट जो उद्गीत होगा उनका उद्गीत का अवयभूत ओंकार उद्गीत एक कर्म है उसका अवयव ओंकार ओंकाराख्यम अक्षरम जो अक्षर है वर्णात्मक है उसको परमात्मा प्रतीकम परमात्मा का प्रतीक है वो तद बुद्धिया परमात्मा बुद्धिया परमात्मा के प्रतीक को परमात्मा बुद्धि से उपासना करते जैसे हम मूर्तियों में भगवान भगवत बुद्धि से पूजा करते हैं तो परमात्मा का प्रतीक होने से तदबुद्धिया परमात्मा बुद्धि के द्वारा ही उपासन उसी बुद्धि से ओंकार की उपासना करनी चाहिए इति उपदिष्टम पूर्व में इसका उपदेश हो गया अब इधानी अब क्या कहना चाहते हैं तस्व अक्षर से उसी ओंकार के ही उपासना है अभी द्वितीय खंड में और कोई नहीं तस्व अक्षर से वही अक्षर है ओंकार है उसी का अध्यात्म अधिदेव भेद नाम अध्यात्म भेद और अधिदेव भेद आदित्य प्राण दृष्टि उपासना आदित्य दृष्टि से अधिदायित में आदित्य दृष्टि से और अध्यात्म में प्राण दृष्टि से उपासना करनी उसी की ओंकार की उपासना करनी है उपासना विवक्षण ऐसा विवक्षण करते हुए कंडिकांतरम अवतार है दूसरा खंड खंड माने कंडिका माने खंड दूसरा खंड का अवतारण देते हैं कहा <clears throat> मंत्र है देवा असुरा हवै ये समेति रे वये प्राजापत्य तद्धदेवा उदीतम आचहूर अनेन एनान अभी भविष्याम देवासुरा वै यत्र समेतिरे वये प्राजापत्य तद्देव उदीत आजह्रु अनेन अभी अभिभविष्याम देवासुरा देव, देव, देवासुरा देवता और असुर दोनों दोनों पक्ष हाँ भाई यहाँ देवासुर बाहर नहीं है ये भीतर है हमारी इंद्रियों की वृत्तियां हैं सभी इंद्रिय वृत्ति हैं कभी आसुरी वृत्ति पैदा हो जाती है कभी दैवी वृत्ति पैदा होती है वृत्तियां लड़ती है यहाँ देवासुरा हाँ भाई प्रसिद्ध है दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति दो वृत्ति है यहाँ कभी कभी भजन आदि करने की थोड़ी इच्छा होती है दैवी वृत्ति जगी होगी कभी कभी छोड़कर के अन्य काम में लग जाता है आसुरी वृत्ति पैदा हो जाए इसको मारू पीटू काटू ऐसा लगता है देवासुरा देवता और असुर दोनों दोनों पक्ष यत्र किसी निमित्त विशेष को लेकर के समय तिरे झगड़ा करने लग गए यदि प्रयत्न धातु है लिट लगा एते एताते एति समय तिरे झगड़ा गए लड़ाई कर गए उभय प्रजापति दोनों प्रजापति के संतान है प्रजापति के संतान है दोनों देवता भी असुर भी दोनों लड़ पड़े तत् माने तत्र ह हाँ, प्रसिद्ध है देवा देवताओं ने क्या सोचा उदगित हम आज उदगित कर्म को ग्रहण कर लिया उन्होंने यही कर्म के द्वारा हम इनको जीतेंगे ऐसा विचार था उनका उदगित कर्म हम आज कहा उदगित कर्म का आहरण किया अनैन इसी कर्म के द्वारा एनान अभिभविष्यामा एनान असुरान इन असुरों को हम जीतेंगे ऐसा सोचा देवताओं ने ये कहना चाहते हैं तो अब यहां उदगित कर्म किससे करवाना है तो नासिका को लेकर के कहा उदगित कर्म करने लगे नहीं हो पाया वाणी आदि से नहीं हो पाया मुख्य प्राण से उदगित हुआ तब असुर भाग गए ये बोलना चाहते हैं दिखाना चाहेंगे मुख्य प्राण की उपासना दिखाना है प्राण रूप से ओंकार की उपासना दिखाना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं देवा असुरा देवास असुराश्च द्वंद्व समास है वहां देवासुर में देवता और असुर दोनों पक्ष हैं देवा माने क्या है दिव्यते द्योतनाथ दिव्य धातु होता है प्रकाश प्रकाश अर्थ में होता है दिव्य क्रीडा विजिकिषा आदि दस अर्थ में धातु है या प्रकाश अर्थ में दिव्यते दिव्य धातु का अर्थ द्योतनाथ से जो द्योतन अर्थ वाला दिव्य धातु है उसका शास्त्र उद्भाषिता इंद्रिय वृत्ति शास्त्र जन संस्कार से उत्पन्न इंद्रिय वृत्ति को देवता कहा है जब शास्त्रीय संस्कार उत्पन्न काल में इंद्रिय वृत्ति हमारी जो होती है शास्त्रों के द्वारा उद्भाषित शास्त्रीय संस्कार जगे हुए काल में इंद्रिय वृत्ति जैसी बनती है सात्विक वृत्ति बनती है वही देवता है असुरा तद विपरीता हाँ, स्वाभाविक शास्त्र उद्भाषित नहीं है बिना शास्त्र का मनमान ढंग से विपृतियां बनती है वो है असुरी वृत्ति असुर है वो असुरा तदवृता तद विपरीता माने स्वेश शेषु विषय विश्व विश्व विषयासु प्राणन क्रियासु रमणात् स्वाभाविक तम आदि तमात्मिका इंद्रिय वृत्तय एवं ये जो असुर यही है कौन अपने अपने जो असु है अपने अपने विषय है विश्व विषयासु भिन्न भिन्न जाने वाला भिन्न भिन्न विषयों पे जाने वाले जो इंद्रिया हैं इनका प्राण क्रियासु भिन्न भिन्न क्रिया जो उनकी होती है उनमें रमणाप उनमें रमण करती है इसलिए स्वाभाविक के जो स्वाभाविक ही वृत्तियां होती है बिना शास्त्र के ऐसा तमात्मिका वो अज्ञानात्मक वृत्ति है वही इंद्रिय वृत्ति है असुर शब्द का हवई इति पूर्व वृत्तो वृत्त उद्भाषकों ने बात हो हवई जो है ना पूर्व में घटना घटी है ऐसे इसके लिए यहां निपात दो निपात लगा दिया हवई अव्यय लगाए दो कहा यत्र मान इसमें निमित्त कोई एक निमित्त को लेकर लड़े दोनों लड़ने के लिए कोई निमित्त होता है यशमिन निमित्त यत्र यत्र माने यशमिन निमित्त जिस निमित्त कोई निमित्त नहीं इतर इतर विषय अपहार लक्षण इनका क्या निमित्त था एक दूसरे का विषय को अपहरण करना था सात्विकी वृत्ति जब आ जाती है दैवी वृत्ति उस काल में आसुरी वृत्ति का अपहार हो जाता और आसुरी वृत्ति जगेगी तो सात्विकी वृत्ति का अपहार हो जाता यही है एक दूसरे के निमित्त ही था दोनों में एक दूसरे को दबोचना चाहते थे यत्र मनी यशमिन निमित्ते इतर इतर विषय अपहार लक्षण है एक दूसरे के विषयों को अपहरण करना है यही लक्षण था उनका समय तिर माने यहां पर यदि प्रयत्न धातु है लिट लगा रहे एते एतते एताते एति रे ऐसा होना है किंतु तो सम लगने से यहां लड़ाई अर्थ आ गया ये कहना चाहते हैं यद्य भी धातु तो प्रयत्न अर्थ में है ये कहते हैं सम पूर्व से यतदे संग्राम अर्थत्व हाँ, सम नहीं लगा होता तो प्रयत्न करना होता था किंतु सम लगने से क्या होगा समपूर्व से थे समपूर्वक यह धातु संग्राम अर्थ में होता है संग्राम अर्थ यदि संग्राम कृतवंत संग्राम करने लग गए लड़ पड़े दोनों शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति अभिभवनाय प्रवृत्ता स्वाभाविक तमो रूपा इंद्रिय वृत्तयो असुरा शास्त्रीय शास्त्रीय ढंग से जो संस्कार से उत्पन्न होने वाली जो वृत्ति है उसको दबोचने के लिए उस वृत्ति को हटाने के लिए प्रवृत्त हो गए कौन स्वाभाविक वृत्ति स्वाभाविक वृत्ति कौन तमोरूप वो तमोरूप है इंद्रिय वृत्त है इंद्रिय की जो वृत्तियां हैं वो असुर वृत्ति है शास्त्रीय वृत्ति को दबोचने के लिए भजन पाठ के समय में मन अन्यत्र भागना असुर वृत्ति आ गई तथा तद विपरीता इसी प्रकार स्वाभाविक वृत्ति से जो विपरीत वृत्ति होती है शास्त्रीय संस्कार से जनित वृत्ति होगी जब तद विपरीता शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योतिर आत्मानो देवा ऐसा जो देवता कैसे देवता है शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योति वाले जो आत्मा ऐसे स्वरूप वाले जो वृत्ति बने देवता है वो देवा देव वृत्ति है स्वाभाविक तमो रूप आसूर्य भगवान जो स्वाभाविक तम था उसको असुर को अभिभव के लिए प्रवृत्त होंगे दैवी में ये तो दोनों लड़ाई करने लगे एक ही विषय उनका है उसको वो हटाना चाहता है वो उसको हटाना चाहता है शास्त्रीय संस्कार को नष्ट करना चाहता है आसुर वृद्धि चाहती है और शास्त्रीय संस्कार आसुर वृत्ति को नष्ट करना चाहती है इसके लिए झगड़ा होता है प्रवृत्ता यदि अन्य अभिभव उद्भव रूप संग्राम इसलिए एक दूसरे का एक दूसरे को दबाना चाहते हैं अपना उद्भव करना चाहते हैं उन्नति करना चाहते हैं एक दूसरा ये स्थिति यही संग्राम है परस्पर संग्राम वास्तव में लड़े तो नहीं लड़ाई जैसी हो गई सर्व प्राणी से प्रतिदेहम प्रत्येक प्राणी प्रत्येक शरीर में वृत्ति चल रही कहते हैं प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक शरीर में सर्व प्राणी से सारे प्राणी में केवल मनुष्य बने अन्यत्र भी लड़ाई दिखाई पड़ती है पशु पक्षी आदि में लड़ाई दिखा है सर्व प्राणी से प्रतिदेह प्रत्येक शरीर में है यह देवासुर संग्राम हो देवासुर संग्राम अनादिकाल प्रवृत्ति की प्राय आज से नहीं अनादिकाल से चल रहा है हमारे एक ही हमारे शरीर में प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक कितने प्रकार की वृत्ति बनती है जरा देखिए अगर लिखने लग जाए तो पता लग जाएगा इस समय ये वृत्ति बने ये समय वृत्ति बने लिखने लगे तो पता लग जाएगा क्या क्या वृत्ति आ जाती है तो अनादिकाल से है प्राणी मात्र में है दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति दोनों वृत्ति जैसे गीता भी सोलह अध्याय में कहा है दो प्रकार के दैवासुर संपद वहां संपत्ति शब्द से कहा है तो वृत्तियां हैं ऐसा है स यह श्रुतिया आख्यायिका रूपेण कहते वही जो अनादिकाल से चल रहा है संग्राम जैसी वृत्तियां चल रही वही जो कहानी के रूप में यहां श्रुति के द्वारा उसी को कहा जो प्राणी मात्र सभी प्राणी प्रति शरीर में है जो लड़ाई चल रही उसी लड़ाई को यहां श्रुति के द्वारा कहा श्रुति ने कहा देवासुरा वही यत्र समुद्री इत्यादि मंत्र से कहा उसी को कहा है श्रुति ने श्रुतिया आख्यायिका रूप श्रुति ने कहानी के रूप से कहेगी श्रुति धर्माधर्म उत्पत्ति विवेक विज्ञान आया दैवी संपत्ति जो होती है धर्म उत्पत्ति के विज्ञान के लिए है और आश्चर्य वृत्ति अधर्म पैदा करने के लिए विज्ञान ये जानकारी देने के लिए श्रुति कहना चाहते कथ्य थे श्रुति के द्वारा कहा जाता है प्राण विशुद्धि विज्ञान विधि पर दया ये किसके लिए कहते हैं ये सारी कहानी का तात्पर्य प्राण विशुद्ध है बाकी इंद्रिया सारे अशुद्ध है ये दिखाना है यहां जब प्राण रूप से उदगित उपासना किया तो देवता लोग ने असुरों को अभिभव करने में समर्थ हो गए देवता लोग ऐसा आएगा जब तक इंद्रिया इस दृष्टि से किया था तब तक तब तक इंद्रियों में आसक्ति है अपने अपने विषयों में देवता जीत नहीं सके ऐसा आएगा तो ये कहा प्राण विशुद्ध विज्ञान विधि परतया कहा प्राण के विज्ञान मैंने उपासना शुद्ध प्राण विशुद्धि जो उपासना है उसके विधि के रूप से कहानी कहा जाता है कहा अतः उभय भी देवासुरा ये दोनों भी देव और असुर दोनों भी प्रजापति और अप्रत्याभि प्रजापति के संतान है प्रजापत्या प्रजापति क्या है कौन है कर्म ज्ञान अधिकृत पुरुष जो तो कर्म और ज्ञान में अधिकार उपासना में अधिकारी पुरुष है वो प्रजापति है कर्म और ज्ञान दोनों में अधिकारी पुरुष है उसी को प्रजापति कहा पुरुष एवं उत अयमेव महान प्रजापति कहा पुरुष ही ओंकार है उगता है और वही महान प्रजापति ऐसे कह स्तुति है अन्य स्तुति में ऐसा कहा है तस् ही शास्त्रीय स्वाभाविक कर्ण प्रवृत्त विरुद्ध अपत्या तदुभवा तस्य वो प्रजापति का शास्त्रीय वृत्ति होते हैं और एक स्वाभाविक वृत्ति दो प्रकार की वृत्ति हो जाते हैं माने कर्म और उपासना में अधिकारी पुरुष का दो प्रकार के वृत्ति होती है शास्त्रीय वृत्ति और स्वाभाविक वृत्ति कारण की प्रवृत्ति दो प्रकार होती है विरुद्ध विरुद्ध दो विरुद्ध वृत्तियां अपत्यानी दो प्रकार की वृत्ति वो संतान है उसके प्रजापति का संतान यही विरुद्ध वृत्तियां तद उवता प्रजापति से उत्पन्न है इसलिए उसको संतान बोल दिया तत् माने तत्र हाँ, मंत्र में तत्थ है ना तत् तत्कर्ष तत्र उत्कर्ष अपकर्ष लक्षण है नित्य अपना उत्कर्ष चाहते दोनों और दूसरे का अपकर्ष चाहते हैं आसुरी वृत्ति चाहती है दैवी वृत्ति को दबाएं दैवी वृत्ति चाहती है आसुर वृत्ति दबा ये लड़ाई चल रही है ऐसी स्थिति है तत्मान तत्र उत्कर्ष अपकर्ष लक्षण लेते देवा देवता माने देव माने उदगीत हम उदगीत भक्ति उपलक्षित हम औदगात्रम कर्म आज करो या उदगित शब्द का अर्थ उदगित भाव के उपलक्षित जो होता है औदगात्र कर्म उद्गाता संबंधी कर्म उद्गान कर्म को यहां उद्गित कहा है उसको आहरण किया उन्होंने तस्या भी केवल से आहरण असंभवात ज्योतिष टोमादि अहद्वता केवल उद्गान ऐसे होगा नहीं खाली उद्गान ही करे उसके लिए क्या होगा किसी यज्ञ करना पड़ेगा ज्योतिषोमादि यज्ञ में उद्गान होता है तो ज्योतिषोमादि यज्ञ किया उन्होंने उद्गान के लिए ये कहना चाहते भी वो जो कर्म है उद्गात्र औदगात्र कर्म वो भी केवल से केवल औदगात्र कर्म होता नहीं है उद्गान कर्म इसलिए ज्योतिषोमादि आहृतवंत ज्योतिष्टोमादि का आहरण किया मानी ही किया उन्होंने तत्किमर्थम किमर्थम इति इतनी किसके लिए उनके उद्गान उद्गित कर्म का आहरण किया तो कहते अनैन कर्म एनान असुरान अभिवश्याम दैवी मृत्यु से इस कर्म के द्वारा इन असुरों का हम जीतेंगे इतम प्राय संदेह प्राय वाले होते हुए उन्होंने ऐसा काम किया तो अब वह किस दृष्टि से करेंगे उद्गित उपासना